Yes. मनसो वापी प्रज्ञानेनैरमाप्नुयात् यस्य ब्रह्म च क्षत्रम् उभे भवत क इत्था वेद अयमात्मा प्रवचने न, न लभ्य ये आत्मा प्रवचन से माने खूब दूसरों को वेद की शिक्षा दें तो केवल प्रशिक्षण में निपुण होने से इस आत्मा की उपलब्धि लाभ ज्ञान नहीं होता अपने आप का अप्राप्त होना अज्ञान है माने केवल अपने आप को न समझने से ही हम उसको अप्राप्त मानते हैं और ज्ञान ही आत्मलाभ है अर्थात उसको किसी क्रिया के द्वारा किसी भावना के द्वारा ध्यान के द्वारा स्थिति के द्वारा पाना नहीं है वो तो नित्य प्राप्त ही है केवल अप्राप्ति का जो भ्रम है अज्ञान है ज्ञान से उसकी निवृत्ति ही इष्ट है न मेघया न बहुना श्रुते न मेघा काम नहीं करते हैं क्योंकि बाहर की जो वस्तु होती है उसके बारे में अन्वय व्यतिरेक से बुद्धि विचार करती है मिट्टी से घड़ा बनता है घड़ा फूट के भी मिट्टी में मिलता है घड़े में मिट्टी का अन्वय है और मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है तो जहाँ इस प्रकार कार्य कारण भाव का ग्रहण होता है वहाँ बुद्धि काम करती है और जहाँ कार्य कारण भाव का ग्रहण नहीं होता है वहाँ चाहे मेधा कितनी भी प्रबल हो वो काम नहीं दे सकती न बहुना शुरू करना ऐसा बहुत श्रवण करें तो बहुत श्रवण करने से ही इस आत्मा की उपलब्धि साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि जो तुम खुद हो उसके बारे में सुन सुन के उसकी कहानी सुन सुन के क्या निश्चय करोगे तो यमे वही वृणुते तेन लभ्य ये साधक जब एकमात्र आत्मा को ही वरण करता है मुझे अनात्मत्व प्रतीयमान वस्तु नहीं चाहिए भले ही वो मैं ही हूँ लेकिन जब वो पराय के रूप में भाग रही है तो वो हमको नहीं चाहिए जैसे का स्त्री है भले ही उसका पति ही दूर से आ रहा हो लेकिन जब तक वो पराया मालूम पड़े तब तक वो प्रेम की नजर से देखने योग्य नहीं है है पति परंतु जब तक उसमें परायापन मालूम पड़े तब तक प्रेम की नजर से देखने लायक नहीं है इसी प्रकार ये आत्मदेव हैं तो अद्वितीय लेकिन जब तक अनात्म रूप से भागते हैं कि ये कोई दूसरी चीज है, है तब तक वरण करने योग्य नहीं है तो जब आत्मदेव देखते हैं कि देखो जब मैं झूठ झूठ में दूसरा भागता हूँ तब भी ये हमको ही नहीं चाहता है, है तो ये हमारा कितना सच्चा प्रेमी है कि हमसे भी प्रेम नहीं करता है यदि मैं दूसरे रूप में भागू अपना आत्मा ही अगर अन्य रूप में भास रहा हो तो वो भासमान अन्य हमको नहीं चाहिए इतनी प्रीति हो गए तब उसको कहते हैं आत्मवरण ऐसे वरण से आत्मा का साक्षात्कार होता है और ऐसा वरण करने वाला अपने आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार करता है एक अर्थ मुंडकोपनिषद में है और एक कठोपनिषद में है तो श्री शंकराचार्य भगवान ने जहाँ ब्रह्म सूत्र में इस मंत्र पर विचार आया है वहाँ कई प्रकार से इस बात को समझाया वरण के द्वारा प्राप्त होना माने आत्मिक्ञानुसंधान के द्वारा प्राप्त होना वरण करने वाले के द्वारा अपने अभेद रूप से प्राप्त होना माने आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुसंधान होना बोले भाई ये कैसे होता है तो ये ऐसे होता है कि भीतर तो परमात्मा अंतर्यामी नित्य प्राप्त ईश्वर ईश्वर वेदांति के मत में भी होता है वो अद्वैत वेदांति के मत में ये जो लोग कच्चे वेदांति हैं ना नए वेदांति वो इस बात को समझते नहीं है जिसके मत में हाथ है पांव है आख है नाक है दिल है दिमाग है ये धरती है सूर्य है चंद्रमा है तो इनका जो अंतर्यामी संचालक है वो वेदांत के मत में ईश्वर हो है ना मायोपाधिक ईश्वर उसको बोलते हैं हाँ, माया विशिष्ट ईश्वर शक्तिशाली ईश्वर प्रभावशाली ईश्वर जिसकी शक्ति से सूर्य अपने स्थान पर टिका हुआ है हाँ, समुद्र अपने स्थान पर टिका हुआ है धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है वो सर्वांतरयामी हमारे ईश्वर ईश्वर हमारे हृदय में भी है और नित्य प्राप्त है हाँ, तो उसके प्रसाद का अर्थ क्या होता है वो हमारे हृदय में वैराग्य दे मुमुक्षा दे जिज्ञासा दे वैराग्य मुमुक्षा जिज्ञासा भीतर बैठ के वो दान करे हाँ, और जब उसकी आराधना की जाएगी तो जरूर देगा देने के लिए वो बाध्य है तो कैसे कि जब हम अंतर्जामी ईश्वर का ध्यान करेंगे तो बाहर के विषय का ध्यान टूटेगा कि नहीं जब हम अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करेंगे तो बाहर का राग टूटेगा कि नहीं और जब हम अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करेंगे तो बाहर के विषय दुख रूप मालूम पड़ेंगे कि नहीं तो अंतर्यामी ईश्वर से प्रेम करने पर उसकी आराधना करने पर ध्यान करने पर बाहर के विषयों से वैराग्य होता है इनसे मुमुक्षा होती है आत्म वस्तु की जिज्ञासा होती है सच्चे आराधक को ये वस्तु मिलती ही है तो अंतर्यामी हृदय में बैठ के कहता है है ना ये राग कहता नहीं है उसकी उपस्थिति का आराधना का फल ही है हाँ, भक्ति का फल ही ये है तो क्या निकलेगा उसमें से संसार से वैराग्य संसार से मुमुक्षा तत्व की जिज्ञासा हाँ, ये आराधित ईश्वर क्या प्रसाद जब हमारे हृदय में प्रकट होता है नित्य प्राप्त ईश्वर की आराधना करने से हाँ, उसका प्रसाद वैराग्य मुमुक्षा जिज्ञासा के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होता है नारायण और गुरु आके कहता है कि तू वही है भक्तो तो वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है दूसरी बात यह है कि जमे वो एश वृणुते तय लभ्या एक परमात्मा जमे वृणु वृणुते जिस साधक को पसंद करता है ये हमको मिले ये हमको मिले वही उसको पा सकता है नहीं तो उसको छिपने की इतनी जगह है कि कोई ढूंढ नहीं सकता ये क्या छिपने वाला है देखो ये श्रीमद भागवत में ऐसा लिखा है कि विरोचन को आया क्रोध कहा कि हमको कहीं ईश्वर मिले तो हम जरूर उसको मार डालेंगे तो वो लेके हाथ में गदा और ढूंढने निकला आप निश्चय समझो अगर ईश्वर कहीं मिल जाता तो ईश्वर को भले वो मार न सकता है ना ऐसा कहना जरा ईश्वर की शान के खिलाफ मालूम पड़ता है नहीं तो हम बात तो कही देते दो तो बोला अगर ईश्वर कहीं बाह्यार्थ के रूप में मिल जाता तो ये विरोचना ये विरोचना दैत्य बना समझना विरोचना है ना ये जो संसार में रुचि है ना विशेष रुचि है वो विरोचन है वो ये संसार का राज उसका मटिया मेट ही कर देता परंतु विरोचन को मिला नहीं क्यों नहीं मिला विरोचन का जो अहमर्थ है मैं है उस विरोचन के मैं में ईश्वर छिप गया श्रीमद भागवत में ऐसा वर्णन आया है तो बाबा ईश्वर कहाँ छिपा है कि तुम्हारे में तुम भी विरोचन हो ये नहीं समझना है ना कोई इंद्र होता है कोई विरोचन होता है कोई प्रहलाद होता है कोई हृदय कशिपु होता है तो जब संसार के जब सोने से प्रेम होता है तब हम हृदय कशिपु हो जाते हैं जब भोग में रोचकता मालूम पड़ती है तब हम विरोचन हो जाते हैं जब अपने स्वत्व की बलि देने के लिए तैयार होते हैं तब हम बलि हो जाते हैं जब दूसरे को दुख देने चलते हैं तो बाण हो जाते हैं ये हिरण का से प्रहलाद का प्रहलाद से विरोचन विरोचन से एक एक पीढ़ी देखो हिरण का वाली पीढ़ी अच्छी नहीं है, हाँ। हिरण कश्यपु की पीढ़ी अच्छी नहीं है हो और नारायण प्रहलाद की पीढ़ी अच्छी है फिर प्रहलाद के विरोचन वो अच्छी नहीं है और विरोचन के बलि अच्छे हैं फिर बलि के एक बाण एक, सा, एक साल जब खेत में गेहूं पैदा हो लेता है ना तो दूसरे साल उसमें मटर बोते हैं गेहूं का पौधा सीधा जाता है ना खड़ा होता है खड़े जाने की जो ताकत है खेत की जब वो नष्ट हो जाती है तो लेटने वाला पौधा उसमें मटर बोलते हैं बोलते हैं और जब लेटने वाली शक्ति खेत की खत्म हो जाती है तो दूसरे साल उसमें फिर गेहूं बोलते बोलते हैं शिव कुमार शास्त्री इतने बड़े विद्वान हो गए काशी में कि उनके बेटे को फिर एक अक्षर नहीं आया है ना सारा दिमाग शिव कुमार शास्त्री में ही खत्म हो गया नारायण तो ईश्वर की जो कृपा है आचार्य की कृपा और व एस प्रवृत्ते से न गया गुरु जी पसंद करें कि हाँ ये लड़की तो ईश्वर के रहने लायक है तेल तो था उसी के द्वारा परमेश्वर प्राप्त हो सत्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम एक असत्य एक आत्मा उसकी क्या वस्तु है सृष्टि में बोले एक आत्मा ये आत्मा ही उसकी वस्तु है ये आत्मा ही उसका सर्वस्व है और उसके सामने ये अपने को छिपाता नहीं है तो हर हालत में गुरु जी कृपा करे तो और परमात्मा कृपा करे तो है ना और ये साधक जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा के द्वारा वर्ण करे तो हर हालत में अपने आत्म तत्व का सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश सर्वाभाषक परमात्मा के साथ ऐक्यानुसंधान यही अज्ञान की निवृत्ति का उपाय है मंत्र का अर्थ चाहे जैसा किया जाए पर उसका तात्पर्य एक ही निकलता है अब ये प्रश्न उठाते हैं आत्मविज्ञान के लिए क्या क्या आवश्यक है तो नारायण नो तो आदमी खूब उपनिषद पढ़ता है हमने ऐसे देखे हो जिनको एक सौ आठ उपनिषद बिल्कुल कंठस्थ परंतु आत्मज्ञान उनको है कंठन पर नहीं ये देखा बोले उनको अद्वैत सिद्धि और चित सुखी खंडन खंड खाद्य भेद धिक्कार भेद धिक्कार में हमको एक मृदि हमारे पितामह थे तो वो कभी वेदांत के ग्रंथों के का नाम उच्चारण करते उस ज्योति थे वेदांत का ज्ञान तो उनको उतना ही था जितना पुराणों के पढ़ने से होता है पुराणों में दो नंबर का ब्रह्म ज्ञान है ना तो- माने उसमें शक्तिमान ईश्वर का वर्णन प्रधान रूप से है निर्विशेष परमात्मा का जो वर्णन है पुराणों में वो संकेत रूप से है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में निर्विशेष अद्वैत ब्रह्म ज्ञान को ढूंढना हो तो अकल लगानी पड़ती है बिना अकल का नहीं मालूम पड़ता है वैसे पुराणों में भी अकल लगानी पड़ती है तो वो जब अद्वैत ग्रंथों का उच्चारण कभी करते ना उनका नाम लेते तो अद्वैत सिद्धि सुखी खंडन खंड खास भेद धिकार ऐसे बोलते हैं वेदांता वार्षिक अवधि सुरेश्वराचार्य के जो वार्षिक हैं वो वेदांत की पराकाष्ठा है उपनिषद वेदांत है ब्रह्मसूत्र वेदांत है उस पर शंकर भाष्य वेदांत है और उस पर सुरेश्वराचार्य के वार्षिक वेदांत हैं वेदांता वार्षिका अवधि और उसके बाद का उसके बाद थोड़े थोड़े सविशेष पदार्थ का निरूपण अब त्रिपुरा रहस्य में जो वेदांत है वो दूसरे ढंग का है और ये जो दत्त भार्गव संवाद है त्रिपुरा रहस्य है दत्त भार्गव संवाद है देवी भागवत है श्रीमद भागवत में है नारायण तो उसमें थोड़ी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है समझने के लिए वेदांत और भक्ति समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती तो आओ अब आपको तो ये सुना है कि लोग इतना पढ़ते हैं लिखते हैं सुनते हैं और समझ भी उनकी बड़ी होती है अब आज आपको नाम लेके हम बताते हैं खंडन खंड खाद्य वेदांत का बड़ा अच्छा ग्रंथ है इसकी हिंदी में टीका करना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्ट है वो और हिंदी में फिर वही मूल रख देते हैं वही जाति है वही धर्मावच्छिन्न वही शब्द बिल्कुल रहते हैं हिंदी में भी रख देते हैं चंडी प्रसाद सुकुल थे खुर्जा के बहुत बड़े विद्वान कुछ काशी में प्रिंसिपल हुए उन्होंने खंडन खंड खाद्य पर टीका लिखी हिंदी में तो एक दिन उड़िया बाबा जी महाराज के साथ था और उड़िया बाबा जी ने कहा कि पंडित जी तुमने खंडन खंड खाद्य की हिंदी कर दी तुम अपना अनुभव सुनाओ क्या अनुभव है तुम काफी के चोटी के पंडित हो चोटी के तो हाथ जोड़ के बोले कि स्वामी जी महाराज हम तो गृहस्थी में फंसे हुए जीव हैं है? हम क्या आपको अनुभव सुनावे अनुभव तो आपकी वस्तु है हम तो केवल अध्ययन अध्यापन के द्वारा शास्त्र की रक्षा करते हैं ये बात देखो इसलिए बताई कि न एनम न आत्मयाग केवल पढ़ लिख के इस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता समझदारी से केवल विद्या बुद्धि से इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता अब दूसरे नाम लेके बता देते हैं आप गंगा किनारे एक महात्मा थे गंदी स्वामी उनका नाम था स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज श्री कृपाश्री जी महाराज ने उनसे विद्या अध्ययन किया था ब्रह्मचर्य अवस्था में भी और गृहस्थ अवस्था में भी कृपाश्री जी पहले गृहस्थ भी तो थे ना गृहस्थ अवस्था में भी और दंडी स्वामी होने के बाद भी उनसे उन्होंने विद्या अध्ययन किया नरवर में रहते थे उनको बोलते थे पंडितों में दर्शनी के आचार्य हैं ये माने सहो दर्शन उनके जिहबा पर नृत्य करते हैं ऐसे उनके बारे में बोलते चलो हाँ। अमुष्य विद्या आग्रह नर्तकी विद्या जो है इनके जीव के नोक पर नाचती है ऐसा उनके बारे में बोलते चलो पंडित जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी उन्हीं के पास रहते थे बहुत बड़े विद्वान तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ तो बोले कि देखो हम तो शास्त्रों की रक्षा करते हैं कि ये लुप्त न हो जाए हम पढ़ा देंगे तुम वेदांत का मीमांसा का न्याय का वैसे शिक्षा योग का सांख्य का है ना कोई भी ग्रंथ आकर हमसे पढ़ो हम ग्रंथक ग्रंथी को खोल देंगे हाँ, परंतु हम तो शास्त्र की रक्षा कर रहे हैं उन्हें इतना बड़ा पांडित्य और आप ग्रंथक ग्रंथी खोलते हैं अविद्या ग्रंथी नहीं खोलते हैं इसका कारण क्या है आपको ये श्लोक है ना श्लोक ये कहता है कि प्रज्ञान एनम न आत्मयाम बड़ी भारी विद्या बड़ी भारी बुद्धि किसी को प्राप्त हो गए परंतु एनम न प्राप्त हो ये अपने आप को तो विद्या की मसाल लेके गांव में ढूंढने गया वो तो बुद्धि की मसाल लेकर के गांव में ढूंढने गया अपने घर में थोड़ी चीज गांव में कहा मिलेगी हाँ, एक आदमी थोड़ा भांग के नशे में था बच्चे को ले लिया कंधे पर अब वो दिखे नहीं कि बच्चा कहाँ गया है? तो पहले इधर उधर हल्ला किया लोग भी इकट्ठे हो गए हमारा बच्चा कहाँ गया तो लोगों ने समझा कोई दूसरा बच्चा होगा एक को तो कंधे पर ले रखा है इसने एक कोई तो दूसरा होगा पुलिस में गया महाराज रिपोर्ट कर वो तो पागल तरीका हो गया कि हमारा बच्चा खो गया खो गया खो गया और वो बच्चा जो है वो मौज के कंधे पर बैठ के और उसके सिर पे हाँ सिर का सहारा लेके सो गया और वो गांव भर घूम के रात को भरा जब घर लौटा तो देहरी की लगी चोट बच्चे के सिर में और वो चिल्ला उठा अरे ये तो हमारे कंधे पर बैठा है बोला तो एनम एनम का अर्थ है जो खुद तुम हो जिसको तुम अपने से जुदा मानकर ढूंढने निकले हो वो तुम शांत दर्शन में दृष्टांत आता है कंठ कर करवत गले में सोने की माला थी सोने का हार गले में जरा पीछे को हो गया देखा तो नहीं है अब महाराज घर में उपद्रव मचा दिया हमारा हार खो गया हार खो गया हार खो गया विस्मृत कंठ हमारी बात कंठ चांदी कर कंठ में सोने का हार क्यों नहीं मिलता है तो एनाम अपना जो परमात्मा अपना आपा है उसको जब तुम छिपा हुआ मान के अन्य मान के दूसरे देश में ढूंढने जाते हो कहा बोले कलेजे में मिलेगा बोले नहीं नहीं नाभी में मिलेगा तो नहीं सिर में मिलेगा ये देश है बोले यहाँ नहीं स्वर्ग में मिलेगा अरे बेवकूफ जो ढूंढ रहा है वो कौन है उसको तो ढूंढ है ना ये ढूंढने वाला जो अनुसंधान जो जिज्ञासा है ना जो जिज्ञासा का साक्षी है जो जिज्ञासा का प्रकाशक है वो कौन है तू कौन है तो गोद में बालक कार में झिझोरा कंठ में हार कंठ चानी करवट ये नित्य प्राप्त अपना आपा जब इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं महाराज तो कहाँ पहुंच जाते हैं गलत जगह पहुंच जाते हैं देखो तुम्हारा फसाव कहाँ है ना विरतो दुष्चरिता ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वादी प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् दुश्चरितात् अविरतः एनम प्रज्ञानेन न प्राप्नुयात् दुश्चरितात् अविरतः पुरुषः प्रज्ञानेन एनम न प्राप्नुयात् अशान्तः प्रज्ञानेन एनम न प्राप्नुयात् असमाहितः प्रज्ञाने न इनम न प्राप्नुयात प्रत्येक संबद्ध है अशांत मानसो बापी प्रज्ञाने न न प्राप्नुयात जो दुश्चरित्र से विरत नहीं हुआ उपरत नहीं हुआ दुश्चरित्र क्या है? दुष्चरित्र का तो दुष्ट लोगों का चरित्र है वही दुष्चरित्र है दुष्ट पुरुषों का जो चरित्र है वही चरित्र है बोले भाई जो मना किया हुआ काम है वही करता है प्रतिशुद्ध जैसे कानून के खिलाफ करने वाला राज्य का अपराधी है वैसे वेद विहित धर्म के विपरीत करने वाला है दुष्चरित्र है भले इतना ही नहीं जो मना किया हुआ काम है वही करता है प्रतिशत है जैसे कानून के खिलाफ करने वाला राज्य का अपराधी है वैसे वेद विहित धर्म के विपरीत करने वाला है दुष्चरित्र है अनंत नहीं है जो विहित है उसको न करने वाला भी दुष्चरित्र है ये दो बात हो गई है ना एक तो समझो कि चौराहे पर पुलिस का सिपाही खड़ा है और वो दूसरे को लूट लेता है तो क्या हुआ निषिद्धाचरण हुआ ना लूटना तो उसके लिए निषिद्ध है सबके लिए निषिद्ध है उसके लिए भी निषिद्ध है तो लूटना निषिद्धाचरण है अच्छा वो खड़ा तो हो सड़क चौराहे पर उसकी ड्यूटी है और वो मोटरों को हाथ न दे है ना जो उसके लिए विहित है उसको न करे तो वो अपराधी हुआ कि नहीं हुआ तो मांस भक्षण आदि प्रतिसिद्ध कर्म करे और संध्या वंदनादि विहित कर्म न करे गीता करणार्थ दोनों हालत में मनुष्य क्यों नहीं करता है ये देखो आपको इसका विज्ञान सुनाते हैं असल में मनुष्य जो है वो व्यक्ति में जब तक गुण समझता है इंद्रिय में सुख समझता है जब तक अपनी मन की अमुक स्थिति में ही मजा लेना चाहता है तब तक वो विशेष वस्तु का ही प्रेमी है निर्विशेष का प्रेमी नहीं है तो विशेष में जिसकी महत्व बुद्धि है देखो एक आदमी शहर में बेईमानी से कमाई कर रहा है और एक आदमी ईमानदारी से कमाई कर रहा है तो दोनों में क्या फर्क है एक के मन में कमाई की वासना इतनी प्रबल है कि वो मर्यादा तोड़ के करता है और एक आदमी के मन में वासना जो है वो कंट्रोल में है कि वो बेईमानी नहीं करता है पैसे पैसे की वासना उसके मन में भी है वो भी कमाई का काम करता है लेकिन पैसे की वासना उसके काबू में है जिसके कारण वो बेईमानी नहीं करता है तो पैसे में महत्व बुद्धि तो है परंतु इतनी नहीं है कि अपनी आत्मा का सत्यानाश करके वो पैसा कमाए है? एक आदमी कमाता भी है ईमानदारी से और अपनी दान भी करता है, और एक आदमी ऐसा है कि उसको संसार का भाव ही नहीं उठता है तो आप देखो कि प्रसिद्ध प्रतिसिद्ध के आचरण में वासना का वेग तीव्र है और विहित के आचरण में वासना का वेग नम्र है कम रहे तो महत्व बुद्धि तुम्हारी कहाँ है कैसे में महत्व बुद्धि है कि ईश्वर में महत्व बुद्धि है कि अपने हृदय में महत्व बुद्धि है, है? कि कहीं महत्व बुद्धि नहीं है तो परमात्मा की ओर जाने के लिए तो निर्विशेष का प्रेमी होना पड़ता है ना तो जो पाप कर्म से विरत नहीं हुआ माने पाप कर्म करने में जिसकी रति नष्ट नहीं हुई देखो तो पाप कर्म होना दूसरी चीज है ये भी हम बताते हैं कभी असावधानी से किसी के पांव के नीचे चीटी आई और मर गई है ना रात को महाराज खटमल ने काटा और मच्छर ने काटा और हाथ जाके पड़ा है ना फटाफट मर गया उसको नहीं बोलते हैं उसको तो उसमें रति नहीं है वहां तो मारने में रति नहीं है हो जाए उसमें रुचि ना हो ये नहीं कि खाए नहीं पहने नहीं पिए नहीं पैसा रखे नहीं ये नहीं सब रहे परंतु रुचि कहा हो हाँ। जैसे नारायण हाँ। स्त्री की रुचि कहा अपने यार में और हाँ, पुरुष की रुचि कहा देखो और घर का सब काम कर रहा है पर जिसका बच्चे से प्रेम है तो दुकान पर काम करते हुए भी बच्चे का ख्याल तो रखता है ना रति तो उसकी बच्चे में है ना पत्नी है घर का काम करते हुए रुचि तो अपने पति में रखती है ना अलग रह के भी उसकी रसूची पति में होती है तो विरति का अर्थ क्या हुआ कि दुष्चरित्रता में पाप में रति नहीं रहे जब तक ये रति छूटेगी नहीं जान बुझ के पाप करते हैं जानबूझ के झूठ बोलते हैं जान बुझ के बेईमानी करते हैं जानबूझ के चोरी करते हैं है? बुझ के देखो मन में आ जाता है इनका पांच रुपया दबाए लें है? तो बड़ा मजा आएगा हमारे पास तो पैसा ही पैसा हो जाएगा है ना इनका सात रुपया दबा लें ऐसा ख्याल मन में आता है तो जब तक दुष्चरित्र आदमी छोड़ेगा नहीं तब तक ये विद्या बुद्धि काम नहीं देगी शांत कैसा भाई बुराई तो नहीं करते लेकिन मन में आ, काम आता है क्रोध आता है बड़ी अशांति आती है राग द्वेश आता है ये इंद्रियां जो हैं ये सराय घर की ओर झांकती रहती हैं इंद्रिय लौट अशांति है तो महाशांता का अर्थ हुआ कि सम दम से संपन्न जो नहीं है हाँ, अशांत पद का अर्थ यहाँ हाँ, अशांत प्रज्ञान एनम न आत्मवास जो अशांत है उसको विद्या बुद्धि से इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तो अशांत का क्या अर्थ है कि जिसके अंदर सम दम नहीं है इंद्रिय अपने काबू में नहीं लावा जीव जो कहे सो खा ले आंख जो कहे सो देख ले हाथ जो कहे सो कर ले पाँव जहाँ कहे वहाँ चले जाए है ना कोई रोक टोक नहीं है ना कोई मर्यादा नहीं तो ऐसे आदमी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती हाँ। ना शांतो ना समाय का बोले अच्छा भाई हमारे मन में काम क्रोध भी नहीं आता और हाँ, तो ठीक है मन एकाग्र है बोले हाँ बिल्कुल एकाग्र है बोले ठीक है शांति न हो सम है ना हो और मन चंचल होए श्रम दम तो हो गए परंतु मन चंचल हो गए काम क्रोध न हो रहे है ना इंद्रियों में चंचलता न हो पर मनी राम जो है वो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का न यहाँ जमे न वहाँ जमे तो बोले उनको भी अनेकाग्र बना जो विक्षिप्त चित्त है उसको भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता प्रज्ञाने न अशांता प्रज्ञाने नम ना आत्मवाद असमाहित प्रज्ञाने न एनम न आत्मयात चित्त में समा, चित्त समाहित होना चाहिए जैसे मुर्दे को दफना देते हैं ऐसे अपने मन को हृदय देश में दफना ही देना चाहिए समाधि में रहो बेटा पहले हमारा मन तो खुद एकाग्र होता है जी हाँ, फिर भी वेदांत श्रवण से ज्ञान नहीं होता है बोले ठीक बात है कई कई लोगों को तो अपने सदगुण का भी भ्रम भ्रम होता है वो जब दूसरे से पूछने जाते हैं कि आप हमारे दोस्त बताओ तो उनसे क्या कहना चाहिए लेकिन महाराज हमने तो हमको तो हमारे अंदर कोई दोस्त नहीं दिखता है जरा आप बता दीजिए हमारे दोस्त तो एक बात तो ये देखने में आई है कि अगर बता दें तो वो फिर हमेशा के लिए दुश्मन ही हो जाता है फिर नहीं आता हो एक जिज्ञासु थे हमारे पास वृंदावन में बहुत पुरानी बात है मैंने सब देखा सुना हुआ है ना तो वो बहुत कहते कि हमारे दोस्त बता दिया करो तो हम सुधार दिया करेंगे हम कहते बाबा क्या दोष है क्या गुण है सब ईश्वर की सृष्टि है तुम भी भगवान के स्वरूप हो क्या दोष बता रहे हैं तुम्हारे अंदर अपनी दृष्टि हम काय को बुला रहे हैं दोषाकार काय को बता बोले थी नहीं बताओ तो बहुत कई दिनों तक बहुत आग्रह किया तो बैठे हुए थे मेरे सामने मैंने कहा ये जो तुम पाँव अपना पाओ पर रख के बैठे हो ये दोष है शिष्टाचार के विपरीत है तो बड़ों के सामने पांव के ऊपर पांव रखे नहीं बैठते हैं तो मान गए तुरंत उन्होंने पांव नीचे कर दिया फिर महाराज जब उठे और हमारी ओर पीट करके जाने लगे तो कहा पीट करके नहीं जाना चाहिए ये दोष अब महाराज के दिन चौबीसों घंटे हमारे साथ रहने वाले हमारे साथ समय हमारे साथ बैठे हमारे साथ जागे है ना अब मैंने कोई दिन भर में बीस पच्चीस बात बताई उनको तो बोले कि तुम तो खुद निकालते हो हमने कहा भाई गलती हो तो सुधारो तो बोले कि नहीं ये बात बात में दोस्त निकाल अब नाराज होने लगे तो मैंने कहा बस बस अब अब मैं नहीं बताऊंगा बोला <laughs> अब तुम डरना नहीं अब नहीं बताऊंगा उस बताने पर तो वो नाराज हो गई क्योंकि सब लोग तारीफ सुनना चाहते हैं तो क्रम का तुरंत उससे है ना एक दिन कह दें कि तुम्हारा आप तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है तो बस जो तो क्या बताऊं आपको अच्छा जिसने पूछा कि हमारे अंदर क्या दोष है हमको तो नहीं मालूम करता तुम बताओ तो हम उसको ये बता हैं कि देखो ये तुम्हारा अभिमान है कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है और ये अभिमान जो है ये स्वयं में बड़ा भारी दोष है कि हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, है? निर्दोष तो केवल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही है है ना ब्रह्मातिरिक्त कोई भी स्थिति यदि तुम्हारे अंदर है व्यक्तित्व का अभिमान है तो वो निर्दोष कैसे हो सकता है तुम ब्रह्म से अलग रह के निर्दोष रहना चाहते हो ब्रह्म से अलग हो के निर्दोष रहना चाहते हो ब्रह्म से अलग होना ही दोष है है ना ये अभिमान ही दोष है ये अविद्या ही दोष है ये ब्रह्म से अलग प्रपंच को सत्य मानना और निर्दोष होना ये कैसे हो सकता है तो समाहित असमाहित अरे इसको लेता बोले आप तो भाई निर्दोष है हमारे समाधि लग गई तो बोले नहीं ये समाधि लगने वाले ऐसे हैं हाँ, हाँ, लगाने वाले ऐसे हैं कि जैसे जंगल में जब भजन करने बैठते हैं ना जंगल में और दो तहरीर हो जाए तो बीच बीच में पाँच दस मिनट में आँख खुलती है तो चारों और देख लेते हैं कि कोई भोजन लेके आ रहा है कि नहीं अब ये तुम समझो कि हमको उन लोगों ने बताया है जो ऐसे भजन करते हैं बोले तो बताया नहीं है हम भी जाके भजन करते थे तो ऐसा होता था बोला हाँ। शाम को पांच बजे छह बजे थोड़ा ठंडा हुआ तो ध्यान भी किया और फिर आंख खोल के देख ली लिया रास्ते की तरफ कि कोई सत्संग करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोला तो <coughs> कोई सत्संग आ रहा है कि नहीं अच्छा तो ये तो आपको दृष्टांत बताया है दृष्टांत और इसका दारस्तांत दूसरा है वो क्या है कि जो चित्त एकाग्र होता है ना तो दस मिनट बीस मिनट आधा घंटा घंटे भर चित्त एकाग्र रहे वैसे हम लोग ऐसा मानते नहीं है ये आपके संतोष के लिए कह रहे हैं है ना ऐसा हम नहीं मानते हैं कि आपका चित्त पंद्रह मिनट एकाग्र रहता है आप माफ करना है ना तो हाँ ओरिया बाबा जी महाराज कहते थे कि 12 मिनट अगर किसी का चित्त एकाग्र रह जाए तो वो समाधि की दशा में चला जाता है बना तो बीच बीच में कई चीजें आती हैं कई जाती हैं लेकिन हमने एकाग्रता की परिभाषा ऐसी बना रखी है, है कि अपने यार की याद आ जाए तो उसको चित्त की संकल्पता नहीं मानते हैं तो <laughs> या चित्त सो जाए है ना तो उसको चित्त का दोष नहीं मानते हैं वो लय और गुस्से पसंद में दोनों दोष हैं लेकिन मान लिया कि तुम्हारा मन पंद्रह मिनट आधा घंटा घंटे भर ये लोग जो तीन तीन घंटे कमरा बंद करके बैठते हैं ना और निकलते हैं भजन करके निकल रहे हैं पहले तुम भजन करके नहीं निकल रहे हो तुम दिन भर की योजना बना के है ना और छह महीने और आगे की भी योजना बना के निकल रहे हो वो हमको मालूम है बोला तो ये घर में बैठ बंद में बैठ के तो क्या होता है कि चित्त समाहित हो तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है क्यों नहीं होती बोले जब समाधि से उठते हैं तो देखते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी सिद्धि आई और कौन कौन सी नहीं आई है ना तो जिसके मन में सिद्धि की इच्छा है कि हम जब चित्त एकाग्र करेंगे तो देवता आके दर्शन देगा हम नूतन निमंत्रण है हाँ, देवता को देखो दूर का हम तुमको दो लोग दूर का दिखा देते हैं कलकत्ते में इस समय क्या हो रहा है लोग तुमको मालूम कराते हैं है? हाँ, तुम्हारा कौन दोस्त है बताते हैं तुम्हारा कौन दुश्मन है बताते हैं ये होता है मन ये हो सब मनोराज्य होता है एकदम सोलह वाले ये मनोराज्य है कोई सरलोक की आत्मा आ गई वो हमसे बात कर गई है ना हाँ मरे हुए ये चुड़ैल कहाँ पे आती है वेदांति लोग वेदांति लोग ये दृष्टांत ही देते हैं आप लोगों को देखो एक, एक बात सुनाते हैं जरा जिनका वेदांत से प्रेम होगा उनको अच्छी लगेगी जिनको वेदांत से प्रेम नहीं होगा उनको अच्छी भी नहीं लगेगी सिद्धि की इच्छा है कि हम जब चित्त एकाग्र करेंगे तो देवता आके दर्शन देगा हम नुक निमंत्रण और देवता करो देखो दूर का हम तुमको दो मील दूर का दिखा देते हैं कलकत्ते में इस समय क्या हो रहा है लोग तुमको मालूम कराते हैं है? तुम्हारा कौन दोस्त है बताते हैं तुम्हारा कौन दुश्मन है बताते हैं ये होता है मन हो सब मनोराज्य होता है एकदम फेल हो आने ये मनोराज है कोई तो परलोक की आत्मा आ गई वो हमसे बात कर गई है ना हाँ मरे हुए ये सुनैर कहाँ से आते हैं वेदांति लोग वेदांति लोग दृष्टांत ही देते हैं आप लोगों को देखो एक एक बात सुनाते हैं जरा जिनका वेदांत से प्रेम होगा उनको अच्छी लगेगी जिनको वेदांत से प्रेम नहीं होगा उनको अच्छी भी नहीं लगेगी है ना वो कहते हैं कि ये जो देवताओं के दर्शन होते हैं ना ये इंद्र देवता का दर्शन हुआ कुबेर देवता का दर्शन हुआ वरुण देवता का दर्शन हुआ यदि देवताओं का दर्शन होता है ये कैसा होता है इसके लिए वेदांतियों ने एक दृष्टांत बना रखा है अपने बड़े बड़े ग्रंथों में नष्ट बनिता दिवस वो कहते हैं जैसे किसी की स्त्री बड़ी प्रेयसी स्त्री हो और मर गई हो है? तो वो जब एकांत में बैठते हैं तो उनको जैसे है ना मालूम चलता है कि वो आ गई है कि वो बोल रही है वो फैकर कर रही है है ना तो नष्ट पुरुष अथवा नष्ट स्त्री इसमें कोई फर्क नहीं है आ, हाँ, जैसे ताजमहल में किसी को मालूम पड़ता है कि बीबी ताज अब भी आकर तो उसके खेती में बैठती है तो ये जैसे मन का ही खेल है न वहाँ बीबी ताज आती हैं न यहाँ आपकी श्रीमती आती हैं न श्रीमान आते हैं ये मनी राम सब गड़बड़ मचा देते हैं ऐसी महाराज जब एकाग्रता से उठते हैं तो सिद्धि की उम्मीद करते हैं अरे हमारे ध्यान में वो दोस्त आया हमारे वो दुश्मन आया है और हमने ये सच्चाई देख ली और हमने वो सच्चाई देख ली है ना ये असल में सिद्धि की इच्छा जो है वो अशांति है जिसके मन में सिद्धि की इच्छा बनी हुई है वो एकाग्र चित्त हो जाए तब भी बड़ी बड़ी विद्या बुद्धि प्राप्त करने से भी प्रज्ञान एनम न आत्मयात तो चार बात इसमें से निकली शंकराचार्य ने उनका संग्रह कर दिया है अंत में आप देखना उनका भाव जस्तु दुष्चरिताप दुरता इंद्रिय लौल्याच समाहित चित्त समाधान फलादति उपशांत मानस आचार जवान प्रज्ञाने न जपोक्तम आत्मान प्राप्नोति इस मंत्र का अर्थ क्या है इस मंत्र का अर्थ है कि पाप कर्म से उपराम हो करके और इंद्रियों की चंचलता भी छोड़ करके और चित्त को एकाग्र करके और एकाग्रता का जो फल है सिद्धि आदि लौकिक पारलौकिक जो हम क्योंकि उपासना का फल है ना इसको स्वर्ग मिलेगा इतर लोक मिलेगा इसको देवता मिलेगा क्या इससे आकाश में उड़ सकोगे इससे पानी पर तैर सकोगे है इससे दूसरे के मन की बात जान सकोगे दूर तक देख सकोगे दूर तक सुन सकोगे ये जो एकाग्रता के फल हैं इन फलों का भी जो परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति में आचार जगा निगुरा न हो गुरु हो क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष चैतन्य की ब्रह्मता है वो जब अपनी समाशी से पकड़ने लगते हैं ना जैसे अपना हाथ पकड़ना हो तो अपनी समाशी से नहीं पकड़ सकते ना अपने हाथ में समाशी लेकर अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते ये क्या है तो इसको कर्तिक कर्म विरोध बोलते हैं इसको दर्शन शास्त्र की भाषा में इसका नाम है जो करता है वो कर्म का विषय नहीं हो सकता है माने यदि हम अपने दोनों पांव को अपने कंधे पर रख के चढ़ बैठना चाहें कि हम अपना निकम्ब है ना अपनी कमर हम अपने कंधे पर रख के बैठे हम ही चढ़े और हम ही चढ़े जाए ये दोनों बात जैसे शक्य नहीं है, है? वैसे हम ही बुद्धि के द्वारा जाने और हम ही जाने जाए हम ही जाने और हम ही जाने जाए हैं ये बुद्धि दोनों काम नहीं कर सकती कि एक ओर तो हमारे सामने रहे तो सनासी बने और दूसरी ओर वही सनासी बन के हमको पकड़े बुद्धि की सनासी से हम दूसरे को पकड़ सकते हैं परंतु अपने आप को नहीं पकड़ सकते इसको कर्म विरोध बोलते हो इसका नाम दर्शन शास्त्र में जो करता है तो कर्म नहीं हो सकता तो सब नारायण तो सब बोले तेरे ये बुद्धि की सलासी हाथ में लेकर जो दुनिया भर को दुनिया की तलाश कर रहा है सबकी परीक्षा कर रहा है कि ये ईश्वर है ये जीव है ये जगत है ये बुद्धि की सनासी हाथ दूरबीन हाथ में लेके बुद्धि की खुर्दबीन हाथ में लेकर के सबको जो देख रहा है वो कौन है गुरु ने कहा कि अरे जिसको भूल रहा है तू वही है जो तुझे पहाड़ के भीतर मिलेगा वही तेरी बुद्धि के भीतर है जो तुझे संपूर्ण भूत सृष्टि के परे मिलेगा तो वही तेरे बुद्धि के परे बैठ करके तू बैठा हुआ है ये बात बताता है तो आचार्यवान पुरुष चार बात छोड़ दे बाप छोड़े इंद्रियों की चंचलता छोड़े इंद्रियों की लोलता विषय लोलुपता छोड़े और चित्त का विक्षेप छोड़े और चित्त की एकाग्रता का फल न चाहे चार बात छोड़ दे और सदगुरु की शरण में तब जो अपनी विद्या बुद्धि में भाषमान जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है है ना नीचे में कौन दिख रहा है ये बात बच्चे को बतानी पड़ती है कि बेटा तुम ही शीशे में दिख रहे हो है ना मैं तो शीशे की परछाई को देख करके बच्चा रोता है चिड़िया लड़ती है पशु लड़ता है बोला अपनी परछाई को देख करके और बच्चे को समझा देते हैं कि बेटा इस शीशे में तुम्हारी परछाई दिख रही है इस अंतकरण में इस अंतकरण के शीशे में तुम्हारी परछाई दिख रही है जो ये प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारी परछाई है हाँ, तुम अपनी परछाई को सच्ची मान करके नारायण शेश्वर सजीव ये जो जगत है हाँ, ईश्वर सहित जीव सहित ये जो जगत है वो कहाँ है तो तुम्हारे अंतकरण में तुम्हारे प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा है वस्तुता तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है तो ये जो विद्या बुद्धि है प्रज्ञा हाँ, ये सबसे मुख्यादि महाभारत के जन्य ज्ञान हाँ, किसको होता है तो आचार्यवान पुरुष को हाँ, तो सब आचार्यवान पुरुषों को क्यों नहीं हो जाता बोले ये चार बात आवश्यक है यज्ञ ब्रह्म च क्षत्रंच उभे भवत उदन मृत्युर्यस्योपसेचनम तथा वेद यत्र अब ऋग्वेद में जो मंत्र है ना कोई अभावेद हो कह प्रबोचक हो है ना अब उस मंत्र का क्या बढ़िया सार देते हैं अब ये कल सुनाएंगे